वापस कार में लौटने के बाद विक्रांत टिश्यू पेपर लेकर अपने नाक से निकल रहे खून को पहुंच रहा था नैना ने विक्रांत को चढ़ाते हुए कहा मैंने तुमसे कहा था ना कि मिस्टर तुम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो लेकिन तुम मेरी सुनते कहा हो वो तो अच्छा हुआ कि ये लोग उतने एक्सपर्ट नहीं थे वरना आज तुम्हारा गेम बच गया होता ओहो सुनो विक्रांत ने भी नैना की बातों का जवाब देते हुए कहा वो तो तुम उदास थी इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था अगर मैं उन्हें अकेले ही पीट देता तो फिर तुम्हें अपना हुनर दिखाने का मौका कहाँ मिलता और फिर तुम्हारा मूड कैसे सही होता तुम गजब हो यार नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मैंने तुम्हें क्या सिखाया था तुम भूल गए जब भी कोई तुम्हें पीछे से पकड़ने की कोशिश करे तब तुम या तो आगे की तरफ झुक जाओ या फिर पीछे गिरते हुए अपना पूरा भार उसके शरीर पर दे दो ताकि वो तुम पर कंट्रोल ना कर सके लेकिन तुम तुम चुपचाप खड़े ही रह गए और फिर वो तुम्हारे मुंह पर ही पंच करता रहा ऐसे सीखोगे तुम मार्शल आर्ट बस अब तुम किसी से ये मत कहना कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देती हूँ ओह बस करो विक्रांत ने बेशर्मी पूर्वक जवाब दिया तुमने देखा नहीं मैं जानबूझकर खुद को पिटने दे रहा था ताकि तुम मुझे बचाने के लिए आगे आओ जिससे तुम्हारा ध्यान फालतू की बातों से हटकर वहां लगे और तुम्हारा मूड ठीक हो जाए समझी वरना उन सालों को तो मैं अकेले ही पीट देता वैसे आज तो मेरा मन अविनाश से तुम्हारी फाइट करवाने का था लेकिन वो मिला नहीं कोई बात नहीं फिर कभी आते हैं यहाँ तुम फालतू की बातें करके बात को घुमाने की कोशिश मत करो समझे नैना ने विक्रांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा वहां साफ पता चल रहा था कि तुम अकेले उन लोगों से नहीं जीत सकते थे लेकिन अब तुम फालतू की बातें करते ये बात घुमाने की कोशिश कर रहे हो कितने बेशर्म हो तुम हाँ ओह बस करो तुम विक्रांत ने जवाब दिया रुको तुम किसी दिन तुम खुद जगह चूज करो और वहां अपने सीनियर अविनाश को बुलाओ फिर देखो मैं कैसे उसे पीटता हूँ और हाँ उसके साथ तुम भी आ जाना फिर पता चलेगा तुम्हें कि मैंने कितना मार्शल आर्ट सीखा और कितना नहीं हाँ हाँ क्यों नहीं जब तुमने खुद पिटने का मन बना लिया तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है मुझे तो मजा आएगा तुम्हें अविनाश के हाथों पिटते हुए देख के नैना ने विक्रांत के लफ्जों में ही अब उसे जवाब दिया वो तो वक्त बताएगा हम्म विक्रांत ने अपने हाथ में लिया हुआ टिश्यू बाहर फेंक दिया और फिर गाड़ी ड्राइव करने लग गया तकरीबन 40 मिनट बाद ये दोनों ब्रिलियंट होटल के वीआईपी सुइट में पहुंच चुके थे नैना ने विक्रांत को डांटते हुए कहा विक्रांत तुम कितना कमीने हो तुम मुझसे फाइट करने वाले थे ना तो फिर मुझे यहाँ होटल में क्यों लेकर आए हो यहाँ लाकर मुझे इस बेड पर पटक दिया विक्रांत इस वक्त नैना के ठीक ऊपर था और वो अपने शरीर को नैना के बदन के ऊपर रखकर हलचल कर रहा था इस वक्त वो अपने एक हाथों से नैना के कपड़े खोलने की कोशिश भी करने लगा था लेकिन नैना पर काबू पाना इतना आसान नहीं था जाहिर है वो शारीरिक रूप से भी विक्रांत से ज्यादा मजबूत थी सो उसने मजबूती से विक्रांत का हाथ पकड़कर उसे खुद से दूर धकेल दिया ए, मैं सोच रहा था कि हम लोग जमीन पर तो कई बार फाइट कर चुके हैं तो इस बार क्यों ना हम बेड पर फाइट कर लेते हैं मैं बेड पर बहुत अच्छी फाइट कर लेता हूँ इसे तुम ध्यान से देखती जाओ विक्रांत ने जवाब दिया और फिर से वो नैना के करीब जाकर उसे गले से लगाने के लिए बढ़ा लेकिन नैना ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा तुम कितने बेशर्म हो ना तुम मुझे घर पर छोड़ने के लिए अकेले निकले थे और यहाँ होटल में लेकर चले आए छी ओह हेलो ऐसे बोलकर मुझे गलत मत साबित करो जब मैं होटल आ रहा था तो क्या तुम्हें नहीं पता था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तब क्यों नहीं रोका खुद का भी मन था लेकिन अब सारा ब्लेम मेरे ऊपर ही विक्रांत ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया और फिर से वो नैना को अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लग गया लेकिन तभी अचानक से नैना ने विक्रांत की गर्दन पकड़ते हुए उसे अपने साइड में कर दिया और फिर फुर्ती दिखाते हुए खुद उसके ऊपर होकर बैठ गई देखो विक्रांत अब ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया नैना जोर से हंस पड़ी और फिर उसने अपनी घड़ी में देखते हुए कहा टाइम देखो अभी अगले तीन मिनट में मैं कुछ भी करके तुम्हें बेड से बाहर फेंकने की कोशिश करूंगी और एक बार अगर तुम फर्श पर गिर गए तो फिर कोई चांस नहीं है लेकिन अगर तीन मिनट तक तुम बेड पर टिके रहे तो फिर तो फिर तो फिर क्या विक्रांत की आंखें चमक उठी तो फिर तुम जो चाहो <laughs> नैना ने शर्माते हुए कहा लेकिन पहले तीन मिनट तक टिक कर तो दिखाओ इतना कहते कहते नैना की पकड़ थोड़ी कमजोर होगी और विक्रांत ने मौके का फायदा उठाते हुए नैना को अपने दाहिने साइड में धकेल दिया और फिर से वो नैना के ऊपर लेट गया लेकिन इस बीच उसने ध्यान नहीं दिया कि नैना ने पहले ही अपने घुटने मोड़कर विक्रांत पर अटैक करने का प्लान बना लिया था जैसे विक्रांत नैना के शरीर के ऊपर चढ़कर बैठा नैना ने अपने घुटने से विक्रांत के हिप में जोर का पंच मारते हुए उसे बेड से नीचे की तरफ धकेल दिया विक्रांत का आधा शरीर बेड से नीचे चला गया और सिर्फ कमर का हिस्सा ही बेड पर रह गया था इस वक्त विक्रांत ये जांघें नैना के मुंह पर टिकी हुई थी नैना ने तुरंत ही अपने दोनों हाथों से विक्रांत का पैर पकड़कर उसे पूरी तरह बेड से नीचे फेंकने के लिए जोर लगाया लेकिन नैना का यह दाव फेल हो गया क्योंकि तब तक विक्रांत फुर्ती दिखाते हुए फिर से बेड पर वापसी कर चुका था लेकिन फिर से नैना ने विक्रांत के हिप पर पैर से वार करते हुए उसे बेड से नीचे फेंकने की कोशिश की इस बार विक्रांत नैना के पैर की तरफ से जमीन पर गिर पड़ा लेकिन ये बेडरूम के सेंटर में था और इस पर चारों तरफ से चढ़ा जा सकता था इस बात का फायदा उठाते हुए विक्रांत जल्दी से बैठ के साइड में घूमकर वापस मैदान में आ गया लेकिन जैसे ही विक्रांत दोबारा से बेड पर वापस आया तुरंत ही नैना ने उसे फिर से किक मार दिया लेकिन इस बार विक्रांत फर्श पर गिरने के बजाय बेड पर ही नैना के पैरों की तरफ धराशायी हो गया विक्रांत ने मौके का फायदा उठाया और नैना की जांघों को कसकर पकड़ लिया लेकिन नैना उसे संभलने का एक भी मौका नहीं देना चाहती थी उसने अपने पैर से विक्रांत को किक करना शुरू कर दिया लेकिन विक्रांत ने खुद को चुंबक की तरह नैना की जांघों से बांध लिया अब वो कितनी भी ताकत से उसे किक मारकर हटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन विक्रांत था कि नैना की टांग छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था नैना लगातार एक के बाद एक किक मारे जा रही थी लेकिन विक्रांत उसकी टांग नहीं छोड़ रहा था इस बीच मौका पाकर वो नैना की मखमल से मुलायम जांग पर जीप फेरते हुए उसे किस करने की भी शुरुआत कर चुका था जब किक मारने से नैना का काम नहीं चला तो फिर वो बेड पर ही पलटते हुए विक्रांत से अपनी टांग छुड़ाने की कोशिश करने लग गई नैना के साथ ही विक्रांत भी पलटने लगा लेकिन किसी भी हालत में वो नैना की टांग छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहा था जब नैना अपना करवट बदलकर पेट के बल लेट गई तब विक्रांत उसकी जांग पकड़े हुए उसके ऊपर आ गया था इस वक्त नैना की हिप विक्रांत के ठीक सामने थी और ऐसे में मौका पाते ही विक्रांत ने अपना एक हाथ नैना की हिप पर रखकर इसे दबाना शुरू कर दिया जैसे विक्रांत ने नैना की हिप पर हाथ लगाया नैना के शरीर मानो करंट दौड़ उठा वो तुरंत ही फिर से पीछे को पलट गई और इस बार उसने अपनी मुट्ठी बांधते हुए एक जोरदार पंच विक्रांत के चेहरे पर लैंड करवा दिया अभी थोड़ी देर पहले ही किसी तरह उसके नाक से खून बहना बंद हुआ था लेकिन अब नैना का पंच पड़ते ही फिर से उसकी नाक से खून बहना शुरू हो गया विक्रांत अपने एक हाथ से नाक से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करने लगा लेकिन अभी भी उसके दूसरे हाथ ने नैना की जांघों को पकड़ रखा था नैना विक्रांत की नाक में लगी चोट को भूल चुकी थी और अभी उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसने फिर से विक्रांत की नाक में पंच मारकर उसे दोबारा घायल कर दिया है पलक झपकते ही तीन मिनट पार हो चुके थे लेकिन नैना अभी भी विक्रांत को किक मारकर बेड से नीचे धकेलने की कोशिश में लगी हुई थी जितनी बार नैना विक्रांत को किक मार रही थी उतनी बार विक्रांत बेड के कोने पर पहुंच जाता लेकिन इसी के साथ हर बार वो उछलकर फिर से बैठ के बीच में आकर बैठा जा रहा था नैना हर बार अपने किक की ताकत को बढ़ाती जा रही थी कुछ ही देर में स्थिति ये हो चुकी थी कि विक्रांत का आधा शरीर फर्श पर पहुंच चुका था हालांकि कमर से ऊपर का हिस्सा अभी भी बेड पर ही था उधर अब उसकी पकड़ थोड़ी कमजोर हो चुकी थी और नैना के हर किक के साथ वो नीचे की तरफ खिसकता जा रहा था हालांकि नैना अभी भी पूरी ताकत से किक नहीं मार रही थी लेकिन फिर भी विक्रांत के लिए अब अपनी पकड़ बनाए रखना बहुत मुश्किल हो रहा था अब उसके हाथ में सिर्फ नैना का पंजा रह गया था लेकिन फिर भी विक्रांत हार मानने को तैयार नहीं था उधर नैना अभी भी लाल से किक मारते हुए उसे फर्श पर धकेलने की कोशिश में लगी हुई थी तीन मिनट पार हुए कुछ सेकंड हो चुके थे विक्रांत सिर्फ नैना का पंजा पकड़े हुए बैट से लटका हुआ था अब अगर नैना अगला किक मारती तो फिर विक्रांत निश्चित रूप से फर्श पर पहुंच जाता नैना ने अगला किक मारने के लिए पैर उठा भी लिया था लेकिन विक्रांत ने भी नैना को खुद के बदन से बिल्कुल चिपका लिया और फिर दोनों एक दूसरे के आगोश में आकर एक दूसरे को पागलों की तरह चूमने लगे